ये तो ये तो दूसरे के किरकित आधा तो किरकित और साधा तो अपित ये दोनों ये दो जो कार्य आधातु तो किरकित प्रत्यय में होता है वही कार्य साधातु तो अपित प्रत्यय में अब सुनो ना भैया समर्थन सुनो जो कार्य आधातु तो किरकित में होता है वही कार्य साधातु अपने लिए और जो कार्य सामान्य आधातु को होता है वही कार्य पे साधातु एक बार हुआ जहाँ सामान्य आधार तो पे साधातु सामान्य आधार तो पित साधातु एक हुआ कितने दाल का आधातु ये तो बहुत अच्छा है इसको तो व्यापक बनाना चाहिए तो चला जाए ये बहुत अच्छा एक हुआ ये प्रत्यय तो।, हाँ। तो प्रत्यय सामने आए तो प्रत्यय को देखो कि क्या सामान्य कार्य क्या है अंत के एक को गुण उपधा के लघु एक को गुण अमृत की उपधा को यही सामान्य कार्य तुमने सुन लो चल चलो कुछ आता ज्यादा तो नहीं ये सामान्य कार्य ये सामान्य कार्य अब इसके अपवाद में देखो विषय अपवाद होंगे हमने देखा अंत केट को गुम होता ये था क्या हो गया क्यों खड़े हो ज्यादा देखिए यहाँ से उठता है तो साढ़े छह बजे कैसा बचते हैं बेटा भगवान के पास बर्तन मारो सब बर्तन बहुत गंदे हैं रोज मरना चाहिए बर्तन जिसमें जलवा रखते हो सब मरना चाहिए हाँ कैसा प्रत्यचन थी बोलो तो कौन कैसे कौन सा आता है लेकिन मुझसे बताए ना कैसा आधा है कैसे पहुंच डेढ़ घंटे बाद बोलिए कित कित का हाँ, एक वर्ग हुआ जितने का दूसरा हुआ शेष का तीसरा हुआ कित कित जितने तो शेष कित कित जितने तो शेष कित कित तो नहीं है जितने नहीं तो शेष है तो सामान्य कित कित जितने तो सामान्य ये सामान्य इसके रंगने पन्नी को क्या होगा क्या होगा नहीं मी को बोल वो नहीं क्यों नहीं बोलते हो गुण होगा ना क्यों नहीं बोलते में हमने लगाया को क्या हो गिने थे रस्ते कितने थे दो सौ पुस्तक देखो पुस्तक से पढ़ो अशोक सामने रखो स्कूल आते उसको तो महिला को क्या किया गया पुलिस में तो इसको अपन वाइट ऊपर से देखो दो सौ इक्कीस और दो सौ बीस पर देखो धातु लिखे धातु लगने वाले प्रत्यय होते हैं तिंक तिंक हुए साधातु तो गाधा कृत हुए साधातु तो गाधा चार नकार के तो तिंक छह नकार के तो अब जो प्रत्ययों में बाकी प्रत्ययों जो शेष है जो शित है वो साधातु और जो शित नहीं है वो आधा तो दो सौ बीस पेज देखिए आप दो सौ बीस ये हो गया अब साधा तो प्रत्ययों के दो भाग हुए पितुर पितु हराधिपित अजाधिपित अपितु हराधिपित अजर ठीक है ये बन गया अब यहाँ जो अपित करते हैं और आधा तो प्रत्यय दूंगी आगे पेज में दो सौ बाईस आधा तो दो सौ तेईस पर आधा तो प्रत्यय के लिए तीन भेद बनाए सामान्य आधा तो द्वितीय आधा तो और कितने तो। ठीक है फिर हमने अधिदेश किया कितना बढ़िया लिखा है अधिदेश किया और अधिदेश करके हमने को सामान्य आधातु सामान्य आधातु को का एक रास्ता है और का एक रास्ता है और युद्ध प्रत्ययों का एक रास्ता ये तीन हो अब प्रत्यय सामने आए तो आप प्रत्यय को पहचानिए इसके लिए दो सौ चौबीस पेज का एक्सरसाइज भूषा तो शब्द प्रत्यय कैसा है पिस्ताधर आजाद पिस्ताधर और शब्द प्रत्यय आजाद या पिस्ता धातु तो होने से सीखे स्ना प्रत्यय हरा दे पिस्ता धातु होने से याद प्रत्यय हरा दे पिस्ता धातु होने से इनका अभ्यास कर ठीक है अब लिखा है अंगकार के तीन ही मार्ग अंगकार के तीन रास्ते आपको बहुत विवेकपूर्वक तीन रास्तों को बड़ी बड़ी दरी है उतनी बड़ी दरी है बाहर के लिए अपना देख देख लो समझ लो एक बार रोज नहीं देंगे यहाँ कोई करने वाला कोई है ही नहीं यहाँ एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं प्रियंक को तो चले आना चाहिए प्रियंक को भेज देते वो हमारा मोबाइल उठा लो कमरे से जा लेते आओ कमरे में और नहीं तो गाय नहीं पकड़ तीन रास्ते हैं तुम तो। एक एक रास्ता आपको हम बता ये प्रत्यय तीन प्रकार के अंग कितने प्रकार से होंगे अंग के अंत में अ आ ई ई देखो ये देखो वाकांत ऐसा है पूरी कार्यशाला में क्या पढ़ाया धातु सामने आएगा उसको देखना धातु हो जाए धातु प्रत्यय मिला के बना हुआ अंग होगा तो उसके अंत में छोटा आ है कि बड़ा आ है कि ई है कि यू है कि वी है कि एच है और यदि हरन धातु है तो अंत को मत देखना तब उपधा को देखना उसकी उपधा में छोटा आ है एक पठ पठ चल वध वच इसका नाम अधुपद है विद अच्छी रखिए इसका नाम विधुपद है बुद्ध शुद्ध बुद्ध इसका नाम उदुपद है और कृष्ण मृष कृष्ण वृष इसका नाम विधुपद है हरन धातु की उपधा को देख ध्यान से सुनो देख पढ़ाते रहना कुछ मत क्यों सुनो अनंत धातु के उद्धा को देखिए अनंत धातु को ज्ञान को देखिए जो कुछ भी लाएंगे इन्हीं के लिए बने सूत्र अंत के लिए बनेगा अनंत में अनंत उद्धा के लिए और कुछ की सूत्र नहीं इसी अनंत धातु के लिए अंत धन को कोई अंधकार आगे नहीं यदि अंत में छोटा आ गया अच्छा, उसका नाम होगा अदंत भला है तो आदंत आकारांत के दो सूत्र बता रहे यदि अनंत अंक भू में हमने शब्द रखे भू को को भव अभव अनंत इसके बाद अंत है भव अंत आगे बात आए होना चाहिए ताकि समझ में उसको क्या हो गया असूल बना तो दोनों सुनते नहीं अब हम क्या बताएं एक कुशीदा करो तो दूसरा चढ़ा हो जाता है हर आदमी एक कुशीदा करो तो दूसरा चढ़ा हो जाता है सुनो ध्यान से वहाँ क्या देखते हो यदि अंत में छोटा है और उसके बाद कौन है तो यानी अ ए ओ इसको पढ़ भाव अंतिम में भाव का जो आए पर तो ये तो भवन और भाव के बाद भी आए तो दीर्घो यंग अदन तन के बाद यंग होता है तो वामा यंग दीर्घो हवा में हवा हवा इधर वही इधर वही नौ प्रत्यय वामा से शुरू हो रहे हैं इनको दीर्घ अदन तन के लिए तो है अतो मैंने अतो दीर्घो ठीक है हमारे आकार में आकारांत अनुचित कुछ नहीं हो मुनासिब मुनासिब ना अभी आएगा तो आगे बताएंगे टीका नाम पड़ेगा सिर्फ उसका आधा तो आधा ठीक है दो सौ अट्ठाईस में दो सौ उनतीस में इसके अपवाद यदि अंग के अंत में अच्छ करते बुद्धि हो जाएगी सादा तो बारह रुपये का आपका न्यू चाहिए itu yawa yawa chayo ni nai mare उनका तो ये तो है उन्हीं लोग का बिल्कुल लेकिन तो कहते हैं तो गुरु नहीं बाकी जो उकार अंतर है साधा तो वादा बिल्कुल गुरु कहते हैं गुरु की ठीक है और जितने आएगा यहाँ पे तृतीय निषेध हो जाएगा उकारण में क्या होगा जितने आएगा तो मृत्यु कितने तो निषेध होगा और शेष आएगा तो सामान्य में गुण और इसका अपवाद है उद्योग यदि उकारांतर हम जन्म छोटा हूँ ठीक है और प्रत्यय हरारी के साथ रस जो है धातु जल का धातु जल का रस ऊ और प्रत्यय हरारी के साथ धातु और शब का रूप हो गया يوفي يوشي يوفي أيو أيو أيو يوفي كتاب इसका बाद है इसका बाद इसका बाद है हाँ और उन लोगों के भाषा उर्दू धातु है तो विकल्प से बुद्धि होगी इसकी तीन कंडीशन है धातु जंतु में रस को उड़ शक का लुक हो गया और प्रत्यय हराज को साधा ऊनों को विकल्प जरूरत ऊनोती ऊनौ ऊनोशी ऊनौशी ऊनौनी अब कहता है गुणों प्रत्यय जब अपृत प्रत्यय आएंगे ता का नाम है अपृत तब बुद्धि नहीं होगी गुण भी होगा गुणों प्रत्यय तब गुणी होगा बुद्धि नहीं होगी तो अंगूर अंगूर होगा ठीक है योगानंद होगा